मूसा ने कहा अच्छा तो जा अब जिंदगी भर तेरा काम यह होगा कि लोगों से यह कहा करेगा कि मुझे ना छूना और इसके अलावा तेरे लिए एक वादे का वक्त मुकर्र है जो तुझसे टलाया नहीं जा सकता और देख अपने इस छूटे बाबूत को जिस पर तू जमा बैठा था हम उसे जला डालेंगे और फिर उसकी राख को चूरा चूरा करके समंदर में बखेर देंगे